सर्वे सौ कर्माण विज्ञान आत्मा पर्यपि सर्व एक ही भवंदे किसी पर विचार चल रहा था कि भाई सब कुछ एक हो जाता है उस पर अव्य तत्व में जिस प्रकार की सारी नदियां समुद्र में जाकर तो समुद्र रूप को धारण कर लेती हैं स्व नाम रूप को परित्याग कर देती है ठीक उसी प्रकार से किंच मोक्ष काले याद याद्यारंबिका कला प्रावाद्या हता स्वाम स्वाम प्रतिष्ठांगता स्वसंकारांगता भवंतीर्थ मोक्ष काल में जो देह के आरंभ का बुदा पंद्रह कलाओं का वर्णन किया गया था प्राणादि नाम से कहा गया था ता स्वाम स्वाम प्रतिष्ठान वे सारी कलाएं अपनी अपनी प्रतिष्ठा को गताहा मैंने स्वम स्वम कारणम गता भवंती अपने अपने कारण में ही लीन हो जाते हैं प्रतिष्ठा बहुवचन क्यों हुआ यदि द्वितीय बहुवचनम क्योंकि हम्म, एक कला नहीं पंद्रह कलाएं इसीलिए यदि प्रत्येक अपना अपना कारण तो एक ही है लेकिन कलाओं के दृष्टिकोण से पंद्रह संख्या के दृष्टिकोण से बहुवचन कर दिया गया पंचदशा मैंने पंचदश संज्ञा का या अंत्य प्रश्न परिपटिता प्रसिद्ध कहा कहा गया था अरे अंत्य प्रश्न अंत्य प्रश्न मैंने प्रश्नोपनिषद का जो अंतिम प्रश्न छठा प्रश्न है उसमें परिपटित जो पंद्रह संख्या वाले जो पंद्रह कलाएं हैं प्रसिद्ध उनको यहाँ पर लेना है देवाश देहाश्रया स्था सर्वे प्रतिदेवता सु मैंने आदित्यादि शुभता भवंती मैंने ये जो देवता है देहाश्रक है चक्षादि कर्णों में विस्तृत है कि प्रत्येक अंग प्रत्यंग इंद्रिया हर चीज का देवता अलग अलग है प्रत्येक शरीर शरीर के प्रति अवय बालों का देवता अलग है चरम का देवता अलग है हर चीज का देवता हड्डी की मांस की जितनी भी हर चीज की देवता अलग है जैसे मकान के लिए बनाते हैं ना वास्तु देवता बोलते उसकी यंत्र बना हुआ तो पता लगता है कितने देवता है ईंट का अलग है मिट्टी का अलग है बालू का अलग है गारे का अलग जो आज की जो भाषा है सीमेंट का वो अलग है जो छड़ इस्तेमाल होंगे उनका अलग है लकड़ी का अलग है मजदूरों की अलग है मिस्त्रियों की अलग है कारपेंटर का अलग है पेंटर का अलग है सब कलाओं के जितने कलाकार लोग मिल करके मकान बनाते हैं प्रत्येक कला का अभिमानी देवताओं को बैठा के पूजा करते हैं और कहते कि हे भगवान जो है तुम सब हमारे मकान को सुंदर सुंदर बनाने में सहयोग दो और बनने के बाद फिर करते हैं पूजा भाई कहीं भी गड़बड़ी हो गया तो नाराज नहीं होना प्रसन्नता पूर्वक हमारे मकान की नींटों में समय आप लोग बैठे रहना और इस मकान का जो लक्ष्य है जिस कार्य से हमने किया वह सफल हो फिर उसकी पूजा करके फिर प्रार्थना करते हैं इसी से यहाँ पर शरीर के अंदर जो खून के बूंद बूंद की भी अलग अलग देवता लोग होंगे प्रत्येक चीज का देवता अलग है इसे कहते देहाश्रया चक्षुराधिकरण और चक्षुराधिकरण और अभिमानी देवता लोग वैसे अपना कारणीभूत मूल देवता कौन है सर्वे प्रतिदेवता सो उनका अपना अपना कारणीभूत मूल स्वरूप जो होगा आदित्य आदि उनमें लय हो जाएंगे गदरा भवंती यहाँ भी जो मोक्षण कृदानी कर्माणी अप्रवृत फलानी प्रवृत्त फलाराम उपभोगे नहीं अक्षीय इसलिए जिन मोक्ष कर्माने से कौन सा कर्म लेना जो अप्रवृत्त फल वाले हैं जिन्होंने फल देना प्रवृत्त नहीं हुआ है फल देने के लिए प्राण कर्म तो उपभोग हो ही रहा है इसलिए उसको नहीं लेना है इसलिए कर्माणि मैंने अप्रवृत्त फलानी अर्थात संचिता क्रिया माना निशा प्रवृत्त फलानाम उपभोगी नहीं क्षीयमान जो प्रवृत्त फल वाले कर्म है उनका तो भोग से ही क्षीण होने वाला है विज्ञानमय और विज्ञानमय से आत्मा अविद्याकृत बुद्धि आदि उपाधि उपाधि आत्मत्व विज्ञानमय से विज्ञान में कोश विज्ञान में आत्मा रहना जब मूल कारण वही था तो ना गमन आगमन का वो भी लीन हो गया तो गमन आगमन खत्म हो गया क्योंकि मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में ही सुख शरीर माना गया प्राणमय मनोमय विज्ञान तीनों मिलके सुख शरीर उसमें विज्ञान में प्रमुख है क्योंकि बुद्धि तत्व ही है ना जिसमें जो है चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ के जीव भाव रहा बनेगा बुद्धि कहा है विज्ञान में ओलीन हो गया तो जीव भाव खत्म हो गया जीव तभी तक रहेगा ना जब तक बुद्धि है बुद्धि नहीं है तो जीव नहीं है कि बुद्धि में ही प्रतिबिंब बढ़ता है बुद्धि तत्व में महातत्व कहते हैं बुद्धि तत्व कहते हैं उसमें ही चैतन्य का प्रतिबिंब जब पड़ जाना वो प्रतिबिंब पड़ने से उच्चतावास को लेकर के जीव भाव आ गया अब वो विज्ञान में ही लय हो जाएगा तो जीव ही नहीं रह गया गमरा गमन का साधन सुख शरीर ही खत्म हो गया इसलिए विज्ञान में कहा गया आत्मा कौन जीवात्मा इसलिए अविद्या बुद्धि उपाधि आत्मत्व अविद्यात जो बुद्धि रूपी उपाधि है उसी को आप स्वरूपेण ग्रहण करते हैं ये तो है जैसे जलादिश सूर्य आदि प्रतिबिंब यह प्रविष्ट हो जलादियों में जैसे सूर्य आदि का प्रतिबिंब प्रविष्ट हुए के समान अनुभव होता है उसे शरीर के अंदर इस बुद्धि रूपी आधार को लेकर के ही प्रविष्ट के समान अनुभव होता है देह वेदेशो प्रविष्ट विभिन्न प्रकार की यह देह वेदेश प्रविष्टा नाम तत्फलार्थ सह तेन विज्ञानमय आत्मना गता भवंती क्योंकि तो कर्म होते किस लिए उसी जीव का फल का उपभोग कराने के लिए तत्फलार्थत्वाद विज्ञानमय फलार्थ सहते नहीं वह इसलिए उस विज्ञानमय इसलिए में के सहित ही वह कर्म भी नष्ट हो जाएंगे क्योंकि तो कर्म जिनके लिए किसके लिए जीव के लिए जब जीव ही गए तो कर्म कहा रहेंगे अब इसलिए जब जीव भूता विज्ञान में आत्मा ही जब लीन होता है उसके साथ उसका सकल कर्म जो अभी तक फल नहीं भी दिए थे वो भी सब लीन हो जाएंगे कोई नहीं टिकेगा मतवा इसलिए ज्ञान में न आत्मना सह कर्मणाम विलय अतो विज्ञान में विज्ञान प्राय इसलिए विज्ञान में से ज्ञान लेना यहाँ विज्ञान प्राय क्योंकि यद्यपि यहाँ विज्ञान प्राय बोल दे रहे हैं बवड़म है ना बावलकता विज्ञान की प्राधान्यता को लेकर कह के उपाधि की प्राधान्यता क्योंकि इसलिए वहां पर आनंदमय अधिकरण ब्रह्म सूत्र में आप वहां मैट प्रत्यय का बहुत अर्थ विचार किया प्रकृति विकृति भाव करके लोग लेते पूर्व पक्षी उसका खंडन करके कहेंगे नहीं यहाँ प्रकृति विकृति भाव नहीं हो सकता प्राय अर्थ ही लेना पड़ेगा वहां सिद्ध किए उसी के आधार पर यहाँ बोल दिया है उन्होंने विज्ञान प्राय तो ये कर्माणी विज्ञानमय आत्मा उपाधि अपनय सती तय कर्माणी वे ये जो कर्म है समूह और विज्ञान वे जो आत्मा जो उपाधि हट गई तो विज्ञान में आत्मा भी चला गया उपाधि अपने सती उपाधि का अपने हो गया वे सभी अपने अपने कारण तत्व में लीन हो गए अब रहे नहीं वो तो रहा क्या परे अपे अनंत अक्षय ब्रह्मणी परे अबे का मतलब वो अनंत जो अक्षय उपाय जो आत्मा कौन है वो शुद्ध ब्रह्म ब्रह्मणी आकाश कल्प है आकाश के समान सर्वव्यापक है वो अजय अजरे अमृदे अभय अपूर्व अनपरे अनंतरे अबाह्य शिवे शांति अनेक शब्द भाषाकार ने अपने तरफ से देकर समझा रहे हैं वह तो आकाश के समान व्यापक है फिर भी चलो आकाश के समान उत्पन्न होगा ये आपके वेदांत मतानुसारण आकाश उत्पन्न वस्तु है तब कहते नहीं नहीं अजय वो अज है वह शुद्ध ब्रह्म आकाश के व्यापक होने पर भी वह अज है ही अज कोई बात नहीं जन्माने फिर बुढ़ा तो हो ही जाएगा जन्म हो या ना हो यदि आपने उसको सशरीर मान लेंगे उसका तो बड़ा तो आएगा ही चाहे जन्मा हुआ शरीर चाहे अजन्मा हुआ चाहे शरीर तो शरीर है वो तो उपजे अब जरूर प्राप्त होगा तब कहते तो इसलिए जरे नहीं वो जरा से युक्त होने वाला नहीं है किसी भी प्रकार का क्षय भी परिणाम आदि उनसे रही दे वो अतएव अमृत है मरण धर्मा नहीं है और मरण से ही भय होता अतएव भाई मृत्यु भय से निकल जाना बड़ा मुश्किल होता है मृत्यु भय निद्रा जीत लेगा तब ना मृत्यु से जीत पाएगा निद्रा ही जय नहीं हुआ तो मृत्यु भय को कैसे जीतेंगे यहाँ पर वेदांत अनुभूति हो जाता मृत्यु का भय दूर हो जाएगा अभय पद की प्राप्ति हो जाए तब भय दूर होगा तो सभी के अंदर एक ही एक बीमारी है मरने का डर है सबको स्वप्न में भी मरने की नौबत आ जाए तो तुरंत जग जाएगा अरे नहीं नहीं हमें मरना नहीं ना तुरंत जग जाएगा कौन आ रहा है सफर में तो मर रहा हूँ मर लू क्या दिक्कत क्या फर्क पड़ता है नहीं खत से उठ जाएगा मृत्यु भय एक ऐसी चीज सभी के अंदर पड़ा है है के बारे में इस निद्रा से जीत नहीं रहे और ज्ञान की कहा बात कर रहे हैं इसी निद्रा से तो जीता जाए बुरा केस तो बनो बाद में देखी जाएगी अब ये अपूर्व अनापर है न कारण रूप है वो नहीं तो उसका कोई कारण नहीं है इसलिए अपूर्व है उसका कोई कार्य भी नहीं है इसलिए आना पड़े अनंत है न भीतर है वो न बाहर है वो इसलिए वो अद्वय है क्योंकि ये सारे शब्दावली द्वैत में ही सापेक्ष शब्दावलियां हैं तो पूर्व है पर है है ना और अद्वैत में जब दो है ही नहीं तो सापेक्ष का तो व्यवहार भी नहीं हो सकता जिसमें इस प्रकार के सर्व साविश व्यवहार अतीत है वो इसलिए वह अद्वय है जो अद्वय होगा वही कल्याण स्वरूप है शिव है जो कल्याण रूप होगा वह शांत होगा वहां तो परम शांति का अनुभव होगी सर्व एक ही भवंदी सर्वे एक ही सर्वे एक ही भवंदी सभी के सभी तारस परम तत्व में ही मानो एक ही भूत हो जाते लीन हो जाते हैं अविशेषताम गच्छन्ति एकत्व आपद्यंते अविशेष स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात एकत्व एकत्व स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं जलाद्य आधारापर इव सूर्य प्रतिबिंब सूर्य घटाद्यपर इव आकाश घटाद्य आकाश कहते हवे अपूर्व कहते हैं एकत्व अपरंग का मतलब जगत जलाधार का अपयन कर दो अपर इव सूर्यादि प्रतिबिंब सूर्य आदि का जो प्रतिबिंब क्या होगा वो भी जब जल को आपने हटा दिया तो वृद्धिम कहा रहेंगे वो भी अपने आप चले जाएंगे घट का अपहरण कर दो तो घटाकार कहा टिकेगा वो भी आकाश में लीन हो जाएगा जैसे प्रतिबिंब बिंब में लीन हो गया या घटाकाश महाकाश में लय हो गया उसी प्रकार से उपाधियों का नष्ट हो जाने पर ये जीवात्मा कहा जाएगा अपर ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाएगा कैसे वही दृष्टांत देते हैं यथा नद्यमाना समुद्र अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त परात परम पुरुषोपैति दिव्यम यथा जिस प्रकार से नदियां गंगारी बहती हुई जो नदियां हैं वे बहते बहते कहा पहुंच जाते हैं समुद्र में अस्त को प्राप्त होते हैं कैसे अस्त को प्राप्त हो रहे हैं नाम रूपे विहाय अपना नाम और अपना जो विशिष्ट स्वरूप था उन सबको त्याग कर समुद्र में एक ही भूत हो जाते हैं जैसे तथा विद्वान नाम और रूपाद मुक्ता ठीक उसी प्रकार से यह जो विद्वान है नाम और रूप आदि जगत से विमुक्त होकर स्वरूप वो कहा जाएगा परात्यपि यत परम पुरुषम दिव्यम अमेव उपैती नाम रूप से मुक्त होकर भी परम परात्मा जो दिव्य जो पुरुष है उस दिव्य पुरुष को प्राप्त कर जाता है भाष्य किंच यथा नद्यो गंगाद्या गंगा आदि नदिया है चंदमाना गच्छन्त्या समुद्र समुद्रम प्राप्त अस्तम अदर्शनम अविशेषात्म भाव गच्छन्ते जैसे वे समुद्र को प्राप्त होते हैं वहां पर अदर्शन हो जाते हैं अर्थात अविशेष भाव वाले हो जाते हैं अब तक जो विशिष्ट स्वरूप में उपस्थित होते तो हैं वे सब अविशिष्ट स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं नाम च रूपम च नाम रूप है नाम और रूप इन दोनों को नाम रूप कहते हैं इनको विहार हिता त्याग करके तो अविशेष भाव को प्राप्त होते विशेष भाव क्या था नाम और उसका एक विशिष्ट स्वरूप यही विशेष भाव था और वह विशेष भाव से वो रहित हो गया हम लोगों का भी यही है और है ये नाम और रूप के अलावा कुछ है नहीं अभिधान और अभिधेय इसके अलावा और कुछ है इस जगत में जब अभिधान को अभिधेय के सदा भिन्न कर दो या अभिधेय को अभिधान के सदा भिन्न कर दो तो बचेगा क्या कुछ नहीं बचेगा वही मांडव उपनिषद की प्रक्रिया है अभिधान अभिधेय का भेद पूर्वक फिर उस जो भी रह गया हो उसको भी ब्रह्म साथ एक ही बोध कर अभिधान के कारण से अभिधेय की स्थिति है और अभिधेय की स्थिति कारण से अभिधान की स्थिति है परस्पर आश्रित व्यवहार होता है अतः दोनों ही अभिन्न है नाम के बिना रूप नहीं रूप के बिना नाम नहीं अरे ये दोनों ही मिथ्या है ये सत्य होते तो स्वतंत्र होते क्यों एक दूसरे के पराधीन हो रहे हैं पराधीन का मतलब यह है कि उसके अधीन हो गया वो इसके अधीन हो गया मेरे मतलब दोनों ही स्वतंत्र नहीं है और जो दोनों दो ऐसे अस्वतंत्र वस्तु होंगे निश्चित से दोनों ही मिथ्या ही होंगे सत्यभूत वस्तु नहीं हो सकता और असत्यभूत वस्तु क्या है वो आपका ये प्रज्ञान घने ये बात जो साबित करेंगे तो उसी प्रक्रिया को वहां लिखी जाए और यहाँ पर इतना ही समझे तथा तो अविद्याकृत नाम रूप मुक्त अविद्याकृत जो नाम रूप है इससे विमुक्त होकर के सन ये जो विद्वान है पराध अक्षरात पूर्वोक्ताद परम दिव्यम पूर्वोक्त अक्षर से भी जो पर है दिव्य है वह पुरुष है यथोक्त लक्षणम यथोक्त लक्षण क्योंकि अक्षर से पर गया था हिरण्य गर्भ को हिरण्य गर्भ का भी जो स्वरूप तत्व है उसको दिव्य पुरुष कहते हैं उस यथोक्त लक्षण जो पूर्वोक्त लक्षण वाला अजर अमर इत्यादि से शब्दों से जो कहा गया था उसको उपैति उपगछति उसे के साथ भूत होकर तत्स्वरूप वाला हो जाता है समस्या है लेकिन ये श्रेय जो परम श्रेय है उसमें तो कहना कि श्रेय सामान्य में भी अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं कोई भी श्रेय करने के करने की चेष्टा करें अनेकों विघ्न आते और प्रेय कर्म में इतने विघ्न नहीं आते श्रेय कर्म में ही विघ्न आते और परम श्रेय में तो कहना ही क्या है विघ्न ही विघ्न है पूरा कांटों का मार्ग है इस पर चलना है कि नहीं ये जो कहते विवेक वैराग्य युक्त संन्यास मार्ग संन्यास योगा कहा था ना कर्म सब कुछ त्याग करके चलना बड़ा कठिन काम है करेगा क्या वो अब नित्य निमित्त कर्म को भी त्याग दिया सब त्याग फिर करेगा क्या गड़बड़ काम है तो करेगा जो व्यक्ति आत्मा में श्रवण मन निध्यास में जिसका नहीं हो रहा है वो करेगा क्या खाली बैठा काम खाली मन शैतान का काम करेगा अब पहले तो ठीक था काम से हम सागर दो घंटा लग जाता था कर्म का पूजा पाठ लगा हुआ है दिन रात तो सेवा पानी कर रहा है तो लगे रहता था दिन भर वो तो अच्छा था और उसको छोड़ करके जो है नहीं सन्यासन आदि और चक्कर फंस गया है या नहीं इसलिए श्रेय मार्ग बड़ा परेशानी होता है इसलिए व्यक्ति को बहुत सोच समझ के संभल करके कर्मों को त्यागना पड़ता है इसलिए हम बार बार कहते कर्म को त्यागने की चेष्टा ही मत करो कर्म अपने आप छूट जाए सो तो अच्छा है छोड़ेगा जो फंसेगा जरूर क्योंकि अगर बुद्धिपूर्वक छोड़ रहा है ना जो बुद्धिपूर्वक छोड़ रहा है और बुद्धि तो बेकूफ बना देगी वो कह देते हो तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो क्या जरूरत है करने का हाँ मन ऐसे ही बोल देता है हम तो ब्रह्म ज्ञानी है आप जितना सोचो उतना उल्टा सोच सोचते रहेगा हाँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ बात तो सही है ब्रह्म ज्ञानी हूँ इतना वेदांत पढ़ लिया और क्या होना है वेदांत पढ़ लिया ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं हुआ आई बस सब छोड़ देगा सब गड़बड़ कर देगा <laughs> मन ऐसा उल्टा पटरी पढ़ाते रहे इसलिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है इस मन से और बुद्धि से ये उपाधियों से संभल के रहो तो अपने आप सब काम चलता है इसलिए पंच सगार प्रक्रिया पहले वर्णन कर चुका हूँ जिसमें सावधानी अत्यंत आवश्यक चीज होता है इसलिए संत ने तो नारा ही दे दिया सावधानी ही साधना है इसलिए कहते यहाँ ज्ञान विघ्न प्रसिद्ध जाना उसको क्या किया जाए स यो वही तत्परम ब्रह्म वेदा ब्रह्म भवदी नाश्य ब्रह्म कुरे भवदी तरद शोकम तरद बापारम गुहाभ्यो विमुक्तो अमृतो भवदी कहते हैं कि भाई स यो तत्परम ब्रह्म वेदा वह यह जो कोई भी पुरुष उस परम ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही भव जो ब्रह्म ही हो जाता है और ऐसे व्यक्ति का कुल में अब्रह्मविद कभी पैदा ही नहीं होता अर्थात ऐसे गुरु का कोई भी शिष्य कभी अब्रह्मविद नहीं हो सकता ऐसे गुरु के पास जो पहुंच गया शिष्य भी निश्चित रूप से प्रमोवित तो ही हो जाएगा सही है नहीं जो जिसके पास जाएगा वो वैसे ही तो हो जाएगा लाल देखने गये हो लाल ये लाल ही बन गए हो है ना वही हो ही जाएगा और बचेगा कहा वो दूसरा कहा से हो जाएगा द्वैत में तो दूसरा रहेगा ना अब अद्वैत तो में गए हो और अद्वैत तो हो जाओगे तो अद्वैत तो हो जाओगे इसलिए कहते हैं कि उसके उस ब्रह्म उसके कुल में कभी अभ्रमित नहीं हो सकता चाहे शिष्य परंपरा हो या संतान परंपरा से हो दोनों ही तरीके से कि उसका जो जीन्स आज की भाषा में ऐसा तो महापुरुष का जीन्स भी तो उतनी उत्कृष्ट कोटि की होगी इधर विदेशी बहुत आते हैं महात्माओं के पास इनका जींस की रक्षा कौन करेगा महात्मा भी कहा का है और क्या करे जब महात्मा का वेश में है और भी गड़बड़ करते इसीलिए अपनी चीन उसकी रक्षा कर लेते परंपरा चलाने के लेकिन वो वास्तव ब्रह्मचर्य थोड़े हुआ फिर तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर देखो यह शिष्य परंपरा ही लिया जाए संतान परंपरा को नहीं तरदि शोकम दरदि पापमानम वह शोक को तर जाता है सकल पापों को तर जा धर्म अधर्म रूपा पाप को भी पार कर जाता है गुहा ग्रंथिभ्य विमुक्त गुहा में विद्यमान जो ग्रंथि एक नहीं अनेकों ग्रंथियां हैं उन सब से छूट करके विमुक्त होकर के अमृत भवती वह अमृत होता है अनात्मा के अध्यास का कारणीभूत हृदय में उपाधि में विद्यमान जो ग्रंथि है उन ग्रंथियों को भेदन कर लेता है ग्रंथित्र है तीन ही मुख्य है उनमें भी है ना पहला हृदय दूसरा कंठ तीसरा आज्ञा चक्र रोमध्य में इन तीन ग्रंथियों को जिसने विच्छेदन कर लिया उसको कहते हुए उन्मुक्त होकर के अमृत हो जाता है श्रेयसी अनेक विग्रह प्रसिद्धा भाष्यकार कहते हैं श्रेय मार्ग अनेको विघ्न प्रसिद्ध है अद क्लेश अन्य तमेना अन्य देवादिना या तो क्लेशों में से कोई ना कोई क्लेश परेशान कर देगा पंच क्लेश ना अविद्या सुविधा राग द्वेशा परिवेशा पंच क्लेशा अविद्या है नहीं तो मान लो उसको तो दबा लिया अपने विवेक आदि से लेकिन अस्मिता आ जाती है हाँ मैं हूँ कुछ कम हो गया मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ मैं ऐसा अपने आप को सोचने लगता है ये तो अस्मिता है और दूसरे विद्वान को दे देता है तो राग द्वेष होने चल जाता है उसके समर्थक विद्वान मिल जाए तो बड़ा राग करता है असमर्थ विद्वान मिल जाए तो गुरगुराता है है ना कुकर गुरगुरायन देखा है इसीलिए एक विद्वान दूसरे विद्वान को देख करके कुकुर के समान गुरगुराते हैं कुत्तों के समान वो भो करते आपस ये तो मुश्किल है ना ये पंच क्लेशों से कोई ना कोई क्लेश हर अवस्था में आदमी को फंसाए रखकर उसको मालूम ही नहीं होता है मैं फंसाऊ मेरे अंदर राग आ गया है या मेरे अंदर द्वेश आ गया है मेरे अंदर अस्मिता अब प्रबल हो गई है ये बात उसको समझ में नहीं आता अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम इसलिए का स्वज्ञान ज्ञो अति अपने अज्ञान अपने अविद्या को जान लेगा उसके आगे की खेती से उत्पन्न फसल को समझ ही लेगा ऐसा विद्या को जानने वाले नहीं मिल पाते इसलिए अंदर में विद्यमान रागत वेश को पहचान नहीं कर पाते फिर भी अपने आप को श्रोत ब्रह्मनिष्ठ मानते रहते हैं ये सब पंडितम बंद माना दंद्रम्य माना पर्यंत मूढ़ा इत्यादि शब्दों से कह दिया गया इन्हीं लोगों के लिए तो कहते हैं इसीलिए देखो भाषिका स्पष्ट ही अन्य वाद्यवादी ना मान लो आपके पंच क्लेशों को आपने अपना वश में कर लिया है लेकिन क्या करें अन्य देवता लोग बहुत बैठे हुए हैं वो सोचते हैं हमारे एक बकरी छूट जाएगा इसे बकरी चराने वाला एक भी बकरी को झुंड से बाहर होने देगा पीछे से कंट्रोल करता हो आगे से नहीं एक आवाज देता है इधर से उधर जाता बकरी फिर वापस वैसे हम लोग पीठ पे पीछे से अदृश्य रह करके हम लोग फंसा के रखे रहते ही देवता लोग देववादियों में से बताने कौन आ जाए नहीं हर वैसे उर्वशी मेरा गांव अप्सराएं आती हैं इन लोगों से भी आप फेल नहीं होते हो सारो गंधर्व यक्ष इनकी आयु को छोड़ देते हैं भाई जाओ रति सीधी के इनके पास इनको बहुत सुंदर कंठ देगा ऐसा गाने लगेंगे मस्त हो जाएगा सारी दुनिया बस फंस जाएगा उसी में भी चक्कर में खत्म मामला उसका इस तरह से कहीं गंधर्व को छोड़ा कहीं तो कुबेर के छह चमचों को छोड़ देगा हाँ। मार माया खो गए करोड़ों रुपया बस बैठे बैठे चिंतन करते रहता है अब ये करोड़ इतना करोड़ आएगा तो इसको वहां डालूंगा उसको वहां बनाऊंगा इसको ये बना दूंगा वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है विद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज वो कॉलेज ये कॉलेज चक्कर में पड़ ही जाए कॉलेजों के काला ही पड़ जाएगा अब तब भी नहीं मान रहे अरे कुबेराजियों को भी लात मार दिया आपने तब कहेंगे इंद्रादी देवता एक एक करके आएंगे बड़े बड़े आएंगे जब उनसे भी नहीं मानोगे साक्षात विष्णु आएंगे लक्ष्मी जी के साथ ऐसे नहीं आएंगे अकेले विष्णु आएंगे तो मुक्त हो जाओगे तो इसलिए वो लक्ष्मी को साथ लेके चलते जहाँ लक्ष्मी को साथ लेके चले फिर तो आदमी ठंडा पड़ जाता है लेकिन तब भी यदि सनत महाराज जी उनके समान जब लक्ष्मी नारायण भगवान सामने खड़े हुए तो उनको लक्ष्मी का चरण और भगवान के चरण की सर कुछ नहीं दिखाई दिया लक्ष्मण जी से पूछा गया लक्ष्मण बताओ तुमने तो सीता जी को देखा है ना राम जी पूछते हैं जब अनेक वस्त्र आभूषण मिले वहां पर चीजें जंगल में पड़ा हुआ तो उनसे पूछे ये, ये, ये किसका तुम पहचानते हो मैं नहीं जानता जितना भी दिखाया चेहरे के आभूषणों के बारे में कहते मैं नहीं पहचानता दो चीजें उसने पहचाना था एक तो जो अंगूठी बनवाई गई थी राम ने सीता को पहनाने के लिए शादी के वक्त उस अंगूठी को देखा था कि ये बनाया गया है और राम जी इसको पहनाएंगे उस अंगूठी को जो कि जब पहनाते वक्त भी नहीं देखा पहनाने के बाद भी नहीं देखा था जब बन के आया था उस समय देखा था और पायल को देखा ये दो को से पहचाना उसने ये सीता जी है अर्थात लक्ष्मण ने अपने भाभी का चेहरा भी कभी नहीं देखा कि कौन सी आभूषण पहनी हुई है कैसी दिखती है काली है कि गोरी है कि पीली है भगवान ही जाने तो ये भक्त का लक्षण होता है कि सौंदर्य का पीछे नहीं है वह चरण का शरण ग्रहण करता है अतएव वह इस संसार से चर कर निकल जाता है इस संसार को पार कराने वाले का नाम ही चरण है गति अर्थ में होता है ज्ञान प्रदान करने वाला है शरण इसलिए उसका शरण में जाना पड़ता है उसी का ध्यान सदा भागवत में विचरी रहा है कि सनत कुमार कहते बस उसी चरणों का ही वर्णन कर रहे हैं चरण में पड़ा हुआ तुलसी का वर्णन कर रहे हैं गले में मुझे क्या लेन देन तो लक्ष्मी की ओर देखते भी नहीं विष्णु को ऊपर से नीचे वर्णन कर, कर देते हैं नहीं लक्ष्मी का वर्णन नहीं किया उसको तो देखा है ऐसा जो परम विरक्त होगा जब लक्ष्मी नारायण आ जाए तब लक्ष्मी की ओर नजर न जाए और विष्णु की ओर सांगो पांग ऊपर से नीचे तक उसके विभूतियों को देख करके भी मोहित न हो ऐसा व्यक्ति ही संसार को पार कर जाए इसे कहते अन्य देवादिना विघ्न कौन डाल सकता है कोई भरोसा नहीं विघ्नित ब्रह्म विद्यापी ये जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी होता है वह अनुभूति करने से पहले अन्य गति मृदो गच्छते मर करके वो अन्य गतियों को प्राप्त करेगा न ब्रह्म गच्छती वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता यह बहुत कठिन काम है इसलिए बार बार बताते ना उपासना करते रहना पड़ता है ये देवी देवताओं को खुश रखना पड़ता है ये कहीं गड़बड़ न कर दे उपासना ही एकमात्र रास्ता है इनसे बच नहीं रहा जबकि ईश्वर परिधान का सवेरे दोपहर शाम रात चौबीसों घंटा जो है ईश्वर पर निधान करें तो वही ईश्वर आपको जो अपनी कृपा से रक्षा करते आएंगे नहीं तो कदम कदम पर फंसने की संभावना ज्यादा रहता है ये सब पूर्व पक्षी का विचार था ननु यदि छेद न लेकिन यदि अप्रोक्ष प्रवक्ता है तो उसके लिए लागू नहीं होता परोक्ष प्रवक्ता के लिए तो आपके कारण बिल्कुल सही मानता हूं पूर्व पक्षी का जो विषय है वो परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो लागू हो जाएगा लेकिन प्रकरण तो अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञानी का प्रकरण क्या है अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञानी का है ना इसलिए यहाँ पर शंका को हम निषेध करते हुए कहते थे चेत न ऐसा अपरोक्ष ब्रह्मविद के प्रति नहीं होता उसको कोई देवता विघ्न नहीं डाल सकता पहले डाल सकता है अप्रोक्षानुभूति होने से पूर्व तक अप्रोक्षानुभूति के पश्चात यावत प्रारंभ कर्म के कारण से चलता हुआ शरीर का रहते हुए भी कोई देवता कोई क्लेश उसको बंधन में दोबारा ला नहीं सकता है जो कुछ प्रारंभ कर्म के वजह से शरीर से हो रहा हो शरीर से होते हुए उन क्रियाकलापों के कारण से कोई देवी देवता हो चाहे अपने ही क्लेश आदि हो वे कभी उसे वापस बंधन में नहीं डाल सकते इसलिए कहते हैं विद्य सर्व प्रतिबंध से अपनी दत्ता कि विद्या के द्वारा सकल प्रतिबंध जितने थे उनका अपनयन हो चुका है इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है उसे कोई बदल नहीं सकता कोई रोक नहीं सकता है अविद्या प्रतिबंध मात्र ही मोक्ष नान्य प्रतिबंध विदेह मुक्ति के लिए अविद्या मात्र प्रतिबंध बनी हुई है और अन्य कोई प्रतिबंधक नहीं है अविद्या मात्र प्रतिबंध है अविद्यालेश अविद्या अपनी पूर्ण स्वच्छंदता के साथ प्रतिबंधक नहीं बनी हुई है वो तो फिर जीव भाव हो गया अविद्या लेश मात्र जो प्रारब्ध कर्म का क्षयार्थ अपेक्षित जो यंचित अविद्या है वही अविद्या मात्र प्रतिबंध बना रहता है जिस क्षण प्रारब्ध क्षय हो गया वह कार्य के साथ कारण बुद्धा लेशा विद्या भी खत्म हो जाती है तो अपने आप वह स्वरूप हो जाता है इसलिए कहते हैं यहाँ अविद्या प्रतिबंध मात्र छह नंबर टिप्पण विद्या अपनेय सर्व विद्या के द्वारा अपने सर्व प्रतिबंध स्फुटित विद्या इत्यादि ना सर्व प्रतिबंध को स्फुटित करके सर्वम का मतलब क्या उस अविद्यालय को छोड़कर नान्य प्रतिबंध नित्यत्व आधारभूत क्योंकि नित्य स्वरूप को प्राप्त कर रहा है नित्य हो चुका है आत्मस्वरूप तो को ही प्राप्त कर चुका है अतएव जो है उसको कोई विचलित नहीं कर सकता तस्मा स यह कश्चित लोग है ब्रह्म वेद साक्षात अहम अस्मी देखो आगे ये साक्षात्कार हो गया उसको उसके बाहर की बात है ना उसके बाहर कोई प्रतिबंध का प्रश्न ही नहीं उठता उसके बाद तो केवल प्रार कर्म का उपभोगार्थ किंचित अविद्या रहती है इसलिए कहते हैं कि तस्मात स या कश्चित इसलिए जो कोई भी पुरुष साधक मोक्ष हो इस लोक में तत्परम ब्रह्म वेद उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानता है तो मैंने कैसे जानता है साक्षात ब्रह्मी थी स न अन्याम गतिम गति वह अन्य किसी भी गति को प्राप्त नहीं कर सकता देव यवित ब्रह्म प्राप्ति प्रति विग्रह न शक्य थे कर तुम अन्य तो क्या कहना बड़े बड़े देवता लोग भी विष्णु महेश भी उसके ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति में कोई विघ्न नहीं डाल सकते दूसरा क्या डालेगा आत्मा ही ये शाम क्योंकि कौन सब का आत्मा ही हो गया जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि है उनका भी वो आत्मा हो गया ना अब ब्रह्म हो गया का मतलब क्या उनका भी वो आत्मा ही हो गया है अब कौन अपने आत्मा को मारे की चेष्टा करेगा कोई जब आप विष्णु का भी आत्मा है शिव का भी आत्मा है ब्रह्मा जी का भी आत्मा हो जाओगे अब वो क्या विघ्न डालेंगे आप आप उनके भी स्वरूप हो गए क्योंकि आप सर्वरूप हो गए हैं सर्वाधिष्ठान भी आप ही है सर्वरूप भी आप ही है सर्व सर्वपद यावत प्रावत पर्यंत सर्वरूप होकर के सर्व को देखने वाले आप हो जाते हो अतः ब्रह्मा विष्णु ऋषि भी आप ही है आप ही उनके रूप में भी है और उनके आरूप भी आप ही है ऐसे स्वरूप में जब स्थित हो जाओगे तो कौन किसको प्रतिबंध कर सकता है तस्वाद ब्रह्म विद्वा ब्रह्म विद्वान ब्रह्म भवती ब्रह्म का जो वेदता है विद्वान है और ब्रह्म ही हो जाता है किंच नासी विदिशो अप्रमित कुल भवती और इस विद्वान का कोई अप्रमित कुल में नहीं होता ये जो आपका जो है कह दिया अदृष्ट फल बताने के बाद दृष्ट फल बता दिया यद्यपि मोक्ष भी दृष्ट फल है अप्रोक्षानुभूति दृष्ट फल है अब लौकिक दृष्ट फल भी बता रहे हैं कि भाई अप्रमित कुले भवती कुले बने शिष्यादि वंशे पुत्रादि ऋषि परंपरा से लोगे तो पुत्रादि वंश में भी हो सकता है ऐसे टिप्पणकार ने पुत्रादि वंश को भी जोड़ दिया किंच और तरति शोकम अनेक वैकल निमित्तम मानस संतापम जीवन ने अतिक्रांत भवती तरति शोकम अनेक इष्ट वैकल निमित्त शोक कब होता है अभी तो इष्ट का वियोग हो जाए इष्ट वियोग होने से शोक होता है इष्ट का अप्राप्ति होने से क्रोध होता है उन सभी प्रकार के अनेक इष्ट की वैकल्य मन अभाव निमित्त जो शोक है वो नहीं होगा क्योंकि शोक क्या है वो मानस संताप है और जीवन नीव अतिक्रांत बोधि और जीवन मुक्त जीवित रहते हुए अतिक्रमण कर जाता है तरदे पापमान गुहा ग्रंथिव्यो हृदय ग्रंथिव्य विमुक्त सन धर्म धर्माक्य गुहा में विद्यमान जो ग्रंथि है हृदय हृदय हृदय अविद्या ग्रंथिभ्यो हृदय में ही विद्यमान अविद्या ग्रंथिया है जो उन अविद्या ग्रंथिभ्यो अविद्या वासना प्रचेप्य अविद्या का वासना समूह से भी वो विमुक्त होता है सन अमृत भवती इतुक्तम एवं विद्यते हृदय ग्रंथ इत्यादि ना ये बात पहले एक और शब्द में कह दिए थे विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्य सरस्वती इत्यादि से तदेत ऋचा वह यहाँ तक तो कोई ऋचा और पोषण करता कथन कर रही है क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्म निष्ठा स्वयं जुहवद एक ब्रह्म विद्या श्रोव्रतम विधिवदे स्तुचीर्णम कहले तदेत वित्तम यही बात आगे की ऋचा में भी कही गई है कि क्रियावंत श्रोत्रिया निष्ठा जो क्रियावान है मैंने प्रार कर्मानुसार वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार क्रिया होता हुआ दिखाई दे रहा है किंतु श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है स्वयं एक श्रोत यंतु स्वयं जो है युक्त होकर वह एक नामक जो अग्नि विशेष है एक एक अग्नि का नाम है उस अग्नि में हवन करने वाले हैं तथा तेषा में वैताम्रम विद्याम और उन्हीं शिष्यों को इस तक जो ब्रह्म विद्या है इसको वे लोग देंगे जो वरेता कौन यही तो शिरोव्रतम विधिवत चीरणम जिन लोगों के द्वारा शिरोव्रत को विधिवत चयन कर लिया गया है यहाँ पर कुछ लोग इसको अर्थ उलट पलट करते हैं भाषकर करते सीधी सीधी बात ये तो सीधा व्रत है शिरोव्रत जो है सिर पर अग्नि को धारण करना सीधे सीधे अर्थ लेना यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं जो गुरु की आज्ञा अग्नि के समान उसको सर पर धारण करने वाला ऐसे ऐसे विभिन्न अर्थ करते हैं भाष्य और टिक के विरुद्ध होने के नाते वो अनुचित अर्थ है ऐसे होता रहा पहले आज भी हमने बताया था पहले भी एक दो व्यक्ति को हमने देखा था दक्षिण भारत में जो इस को मिट्टी के कुंड में अग्नि को बनाए रखते हैं और उस सर पर रखे हुए बैठे रहते हैं केवल लघुशंका शौच स्नान कर्म को छोड़कर अन्य किसी भी कर्म के लिए वो उसको उतारते नहीं बैठे बैठे ही रहते हैं निद्रा जगी के बिना कैसे करेगा ये बहुत कठोर तपस्या है एक साल ऐसा पूरा जो व्यक्ति कर लेता है उसको ही मुंडक उपनिषद सुनाना चाहिए ये मान के चलते हैं आप लोग किसी ने किसी जन्म किए होंगे इसलिए सुन लिए हैं अगर इधानी ब्रह्म विद्या संप्रदान भी प्रदर्शन उपसंहार क्रिय ब्रह्म विद्या का संप्रदान गुरु शिष्य गुरु शिष्य किस प्रकार से देनी चाहिए उस विधि का दर्शन पूर्वक बताते हुए उपसंहार कर रहे हैं विद्या संप्रदान विधान अमृषा मंत्र अभ्युक्तम अभिप्रकाशितम वह विद्या को सम्यक प्रकार से देने के विधि विधान को यह ऋषार मंत्र के द्वारा कथन प्रकाशित किया गया है क्रियावंतो यथोक्त कर्मानुष्ठान युक्ता क्रियावंत ने यथोक्त निष्काम भाव से कर्म को करने वाले हैं ये शुक्र कर्म निश्चय ना फिर भी लोक संग्राम में वापी के अनुसार सकल कर्मों को कर रहे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण नित्य निरंतर अपने पत्नियों के साथ प्रतिनित जो कुछ भी नित्य कर्म करनी चाहिए समय समय पर सब कुछ करते रहे नारजी जी तो देखिए घबरा गए थे नारद जी ही सोचे भाई एक कृष्ण सोलह हजार एक सौ आठ पत्नी सोलह हजार एक सौ आठ मकान में कैसे यह कर्मकांड करता होगा निश्चित रूप से भगवान तो धर्म भ्रष्ट होगा ये नारद जी सोचे क्योंकि उन पत्नियों के साथ जो करनी चाहिए करो नहीं करेगा तो अधर्म पत्नी हो जाएंगी ना वो भोगार्थ रखा हुआ हो जाएगा फिर वो अधर्म पत्नी होंगे तो अधर्म पत्नी का पति क्या होगा धर्म भ्रष्ट होगा अधर्म होगा नाराज परीक्षा करने के लिए आए देखे जब जब देखते तो जिस मकान में घुसे वहां पर बड़ा कमाल है वो कृष्ण भी ऐसे ही होता था वो लंबी है तो वो भी लंबा था वो ठिंगड़ी है तो भी ठिंगड़ा था मोटी है तो भी मोटी मोटा था वो जैसा ड्रेस भी वो पीला साड़ी पहनी है तो ये पीले पीले कपड़ा वो नीली साड़ी पहन रखे नीला कपड़ा पहन रखे कमाल है देखते रहोगे ये क्या है भाई बड़ा आश्चर्य की बात है और संध्या का टाइम में जाते हो देख रहे हैं संध्या कर रहा है और वो पत्री जो है सारी पूजा पाठ व्यवस्था कर रही है सब नहा रही है ले दे रही है संकल्प कर में साथ बैठ के चल डाल रही है हाथ में सब हो रहा है जहाँ देखो मकान में वही दिख रहा है तो क्यों कर रहे हैं लोग संग्रह मेवा तो इन्हें जरूरत नहीं उसी प्रकार से श्रोत्र भ्रमिष्ट होता हुआ जो गुरुकुल आदि का संचालन कर रहे हैं वे अपने शिष्यों को जो मार्गदर्शन कराने के लिए जान बुझ करके निष्काम भाव से कर्मों को करते रहते हैं अपरस्मिन ब्रह्मणी अभियुक्ता श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा अपरस्मिन ब्रह्मणी अभियुक्ता पर ब्रह्म भूतसभा अपर ब्रह्म में उनकी निष्ठा बनी हुई है और पर ब्रह्म को जानना चाह रहे हैं स्वयं एक नामानम अग्निम जुहदय एक ने एक नाम का एक अग्नि विशेष है उसको हवन किया करते हैं कैसे श्रद्धयंत तो श्रद्धारा सुनता श्रद्धा वो करते ये तेषा में संस्कृत अपना जो ऐसे हैं वही लोग जिनका एक निष्काम भाव से रूपी अग्नि का जो संपादन किया है उनके संस्कृत अंत करण वाले पात्र भूतान एक पात्र भूता योग्यता अधिकारी जो को देख करके ही उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या को वरिता ब्रुयात श्रोवृतम शिरसी अग्नि धारण लक्षण सिर पर जो अग्नि धारण करना रूपी जो व्रत है यथा आथर्वणाराम वेद व्रतम प्रसिद्धम जैसे कि अतर्वेदियों में से एक प्रशाखा विशेष वालों का क्या है वेदाध्ययन का अंग रूपेण ये श्रोव्रत को बताया गया है वेदाध्ययन का वो एक अंग विशेष बताया गया इसके बिना अध्ययन नहीं करनी चाहिए अथर्वेद की मुंडक शाखा को ऐसे जैसा अन्यत्र देखा गया उसी प्रकार से मुंडक का शाखा में जैसा लागू हुआ नियम वही नियम मुंडक उपनिषद पर भी लागू है यह बात का मंत्र प्रकाशित करता है यही तत्म विधिवत यथा विधानम तेषा एवचो जो इस प्रकार से विधिवत यथा विधान उस श्रोव्रत का धारण अग्नि का धारण का श्रोव्रत को एक साल पर्यंत अनुष्ठान किए हैं उन्हीं लोगों के लिए यह विद्या का श्रवण करनी चाहिए तत् सत्यम ऋषिंगिरा पुरोवाच नहीं तद चिक्षीर्ण व्रत नम परम ऋषिभ्यो नम परम ऋषिभ्य उस अक्षर पुरुष जो तत्व है सत्य तत्व है इस अंगिरा नामक ऋषि ने पूर्व काल में विधि पूर्वक